परम पिता परमात्मा का स्मरण सृष्टि के रचयिता सर्वव्यापक परमात्मा प्रणव ध्वनि 哦。 धर्म प्रेमी सज्जनों हम मनुष्यों के लिए वेद का आदेश क्या है हमें परमात्मा के बारे में क्या विचार करना चाहिए उसका एक रूप आज के मंत्र में परमात्मा ने स्वयं हमें दिया है आज का मंत्र यजुर्वेद के सत्रहवें अध्याय का इकतीसवां मंत्र है और आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में चौवालीसवां मंत्र है मंत्र है न तम विदाथ य इमा जजान अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव निहारेण प्रावृता चासुत्रिप उक्तशासरती निहारेण प्रावृता जल्प्या चासुत्रिप उक्त चरंती प्रथम पंक्ति है पहला वाक्य है न तम विदाथ तुम लोग उसको नहीं जानते हो तम कम किसको य इमा जजान जिसने इन सब लोक लोकांतरों को संसार को बनाया है जिसने इन सबको बनाया है उसको तुम नहीं जानते हो वेद का पहला संकेत तो यह है कि इन सब लोक लोकांतरों को बनाने वाला कोई है ये अपने आप नहीं बन गए आस्तिकता का प्रारंभ यहीं से होता है ईश्वर को मानने का प्रारंभ यहीं से होता है यदि कोई व्यक्ति ये मान ले ये सब अपने आप बने हैं तो उसके आगे फिर ईश्वर को मानने का उसका कोई अवसर नहीं बन पाएगा हम ईश्वर को मानने के लिए बहुत से कारणों को देखते हैं अनुमानों को देखते हैं समझते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण ये कि इतनी योजनाबद्ध व्यवस्थित सृष्टि प्रकृति लोक लोकांतर अपने आप नहीं बन सकते किसी सर्वज्ञ चेतन के द्वारा ये निर्मित हैं आस्तिकता का प्रारंभ यहां से होता है जिस व्यक्ति को इस बात पर विश्वास नहीं हो कि संसार को किसी ने अवश्य बनाया है ये अपने आप नहीं बन सकता इसके स्थान पर उसके मन में ये बात बैठ गई हो कि तो अपने आप ऐसे ही बन जाता है तो आगे ईश्वर को मानने स्वीकारने के लिए उसको कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं मिल पाएगा और जो आस्तिक इस बात को मान लेता है कि संसार को बनाने वाला कोई अवश्य है फिर वो ईश्वर के बारे में अन्य बातों को भी धीरे धीरे समझता है किसको बनाने वाला किस स्वरूप वाला होगा उसकी क्या शक्तियां होंगी क्या सामर्थ्य होगा आस्तिकता का प्रारंभ इस बात से होता है इस तर्क से एक युक्ति से होता है कि संसार को कोई बनाने वाला अवश्य है बनाने के बाद में चलाने वाले की बात आती है और उसके बाद में इसे नष्ट करने की बात आती है कोई व्यक्ति ये तो न माने कि संसार को कोई बनाने वाला है तो उसके लिए बहुत कम अवसर है कि संसार को कोई चला रहा है और वो चलाने वाला मानेगा भी तो मनुष्य आदि को मानेगा और जब वो ये मानता है कि संसार अपने आप बन गया है तो सहज ही वो मानेगा कि चल भी अपने आप ही रहा है और इसका नाश भी यदि होता है वो स्वीकार करे तो वो अपने आप हो जाएगा जब बन ही अपने आप गया तो नाश तो अपने आप होने में कोई कठिनाई नहीं इसलिए ईश्वर का अस्तित्व वो व्यक्ति स्वीकार कर पा सकता है जो ये माने कि ये संसार ब्रह्मांड लोक लोकांतर किसी ने बनाए हैं अपने आप नहीं बन सकते तो संसार का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो परमात्मा के अस्तित्व को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है लोगों के जो सर्वेक्षण हुए हैं उसके अनुसार जो सूचनाएं आती हैं तो लगभग 14-15 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं यानी करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानते इस संसार को किसी ने बनाया है इस बात को वो स्वीकार नहीं करते तो न तम विदाथ या इमा जजान जिसने इसको बनाया है उसको तुम नहीं जानते ये जो कुछ एक वर्ग है चौदह पंद्रह प्रतिशत वाला वो नहीं जानता कि जिसने इसको बनाया है क्योंकि वो यही नहीं मानता कि इसको किसी ने बनाया है ये एक वर्ग के लिए संकेत हुआ दूसरा वर्ग जो ये तो मानता है कि परमात्मा ने या किसी ने इसको बनाया है या इमा जना जजाना जिसने इसको बनाया है उसको तुम नहीं जानते अर्थात तुम ये तो मान लेते हो कि किसी ने इसको बनाया है लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं जानते हो अर्थात फिर भी तुम इसको पूरी तरह से नहीं जानते हो इतना युक्ति तर्क से तुमने स्वीकार कर लिया है कि कोई तो बनाने वाला होगा अब इन 14-15 प्रतिशत से अतिरिक्त जो पिचासी छियासी प्रतिशत जनता है अरबों में वो तो परमात्मा को स्वीकार कर रही है उसने इसको बनाया है लेकिन फिर भी क्या हम ये कह कह सकते हैं कि ये सब परमात्मा को जानते हैं अर्थात क्या परमात्मा को शुद्ध रूप में जानते हैं परमात्मा को सृष्टि का रचयिता स्वीकार करते हुए भी परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में माना जाता है और वो भिन्न भिन्न रूप केवल दृष्टि भेद नहीं है वो परस्पर विरुद्ध स्वरूप है कोई इसको एकदेशी मानता है कोई इसको सर्वव्यापक मानता है जो एकदेशी मानते हैं वे भी उसको भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित मानते हैं जबकि कहते ये हैं कि उस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है तो यह इमा जजान जिसने इसको बनाया है जो इसको उत्पन्न करता है उसको तुम जानते नहीं हो अर्थात पूरी तरह नहीं जानते हो परमात्मा की कौन सी बात नहीं जानते हो जिसने ये समझ लिया कि परमात्मा ने बनाया है तो इसके साथ साथ ये तो जुड़ के आ ही जाएगा कि उसमें बनाने की शक्ति है शक्ति ना हो तो बना नहीं सकता और जिसने इन बृहद लोक लोकांतरों को बनाया है उसकी शक्ति भी कितनी अधिक होगी ये भी वो कल्पना करता है और अभिभूत रहता है कि परम शक्तिमान सर्वशक्तिमान परमात्मा है मान लिया उसने और किसी चीज का बनाने वाला शक्ति से युक्त हो लेकिन ज्ञान से युक्त ना हो उसके बारे में जानता ना हो ये संभव ही नहीं है इसलिए उसको जाता भी मानता है सर्वज्ञ भी मानता है ये सहजता से स्वीकार हो जाता है इस सृष्टि का बनाने वाला है वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान से युक्त है ये भी स्वीकार हो जाता है अब जब वेद मंत्र ये कह रहा है न तम विदाथ य इमा जजान जो इस संसार को बनाता है उसको तुम नहीं जानते तो जो ये प्रश्न कर रहा है परमात्मा स्वयं हम जीवात्माओं से प्रश्न कर रहा है तो उस ज्ञान को भी तो देगा कि भाई क्या चीज तुम नहीं जान पा रहे हो वो कौन सा अंश है परमात्मा का जिसको तुम नहीं जान पा रहे हो तो मंत्र का अगला भाग कहता है अन्यत युष्माकम अंतरम बभुव युष्माकम तुम्हारे अंतरम अंदर ये विद्यमान है बहुत से लोग परमात्मा को मानते हैं लेकिन अपने अंदर नहीं मानते उसको कहीं अन्यत्र मानते हैं तो परमात्मा को केवल ये मान लेना कि उसने सृष्टि बनाई है और उसके गुणों का बखान करते जाना इतना मात्र परमात्मा को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है जो परमात्मा के बारे में सब कुछ जानते हुए भी ये नहीं जान पाता कि वो मेरे अंदर है हम सबके अंदर है समझ लीजिए उसने परमात्मा को अभी नहीं जाना है और एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि परमात्मा अंदर भी है लेकिन वो साथ में ये मानता है कि जो अंदर है वही तो ब्रह्म है वही तो मैं हूं वही तो मैं परमात्मा हूं ब्रह्म हूं तो वेद कहता है अन्यत वो भिन्न है तुम्हारे से अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव वो तुम्हारे से भिन्न है और तुम्हारे अंतर है अस्तिकों का एक बड़ा वर्ग है सृष्टि के रचयिता को मानने वालों का बड़ा वर्ग है निराकार मानने वालों का भी बड़ा वर्ग है परमात्मा को सर्वव्यापक मानने वालों का भी बड़ा वर्ग है लेकिन वो ये मान बैठे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं अलग नहीं हूं मैं जीव मैं चेतन आत्मा अलग नहीं हूं तो परमात्मा कहता है कि अन्यत वो तुम्हारे से अन्य है ये अभी नहीं जान पा रहे हो और दूसरा युष्माकम अंतरम बबू तुम्हारे अंदर है ये अंश जो दूसरी पंक्ति में प्रथम पंक्ति के अंत में दूसरे वाक्य के रूप में दिया गया है इसकी तरफ यहां संकेत है और ये बहुत महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति परमात्मा को अपने अंदर विद्यमान स्वीकार करता है जानता है अनुभव करता है और अपने से भिन्न भी मानता है समझें कि उसने परमात्मा को समझे ये तो वो मानता ही है कि परमात्मा ने सृष्टि को बनाया है लेकिन साथ में ये भी जानता है कि वो भिन्न है और अंदर विद्यमान है परमात्मा को जानने वाले की कसौटी ये है परमात्मा के कितने भी गुणों को कोई जानता हो लेकिन ये ना मानता हो दो चीजें कि वो मेरे से भिन्न है और मेरे अंदर है मेरे अति निकट है तो परमात्मा को नहीं जान पाया परमात्मा को जानने और मानने का जो लाभ मनुष्यों को मिलना है आत्माओं को मिलना है वो इस अंश के बिना नहीं मिल सकता एक तो अंदर माने और एक अपने से भिन्न माने और जो सैद्धांतिक रूप से ये मान भी लेते हैं कि परमात्मा चूंकि सर्वव्यापक है कण कण में है तो मेरे अंदर भी है और मेरे से भिन्न भी है लेकिन ये बोध नहीं रख पाते अंदर सदा ये उनकी स्मृति में ज्ञान में उपस्थित नहीं रहता है विभिन्न कर्मों को करते हुए इस बोध से युक्त तो वो कर्म नहीं कर पाते हैं तो वो भी इस अंश में परमात्मा को नहीं जान पाए परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्या है परमात्मा अपनी जगह होगा उसने बना के दे दिया हमें हम उपयोग कर रहे हैं इस संसार का इस उपयोग करने में परमात्मा को जानने की आवश्यकता क्या है एक बड़ा वर्ग यही सोचता है लाभ क्या है परमात्मा को जानने का तो वेद मंत्र कहता है अगली पंक्ति में यदि तुम परमात्मा को नहीं जानते हो तो तुम्हारी क्या स्थिति बनेगी तुम कैसे हो तुम्हारी वास्तविकता क्या है तो कहा निहारेण प्रावृता निहार कहते कोहरे को धुंध को जैसे हम धुंध से आवृत हो जाते हैं ढके रहते हैं प्रावृत हैं प्रकर्ष रूप से ढके हुए हैं बहुत अच्छी तरह से तो हमें चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी रेल में सड़क पर चलते हुए जब कोहरा होता है तो दुर्घटनाएं बहुत होती हैं दिखाई नहीं देता है गतियां कम हो जाती हैं गाड़ियां रुक जाती हैं तो निहारे न प्रावृता का मतलब हुआ अज्ञान से ढके हुए हो और जो अज्ञान से ढका हुआ होता है वो ठीक चल नहीं सकता ठीक गति नहीं कर सकता तीव्र नहीं चल सकता ठीक नहीं चल सकता दुर्घटना होगी टक्कर खाएगा और दुखी होगा बाधित होगा तो यदि हम परमात्मा को अंदर और अपने से भिन्न नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं तो हम अंधकार से अविद्या से ग्रस्त हैं कोहरे से ढके हुए हैं हम वैसे हम कितना भी अपने को जागरूक समझ लें लेकिन फिर भी अज्ञान हमारे अंदर विद्यमान है और वो हमारे लिए हानिकारक होगा हम कभी सुख को नहीं प्राप्त कर सकते पूर्ण सुख को नहीं प्राप्त कर सकते दुख मिलेगा ही निहारेण प्रावृता जलप्या ऐसे ही बोलते रहेंगे नास्तिक बातें बोलते रहेंगे जो ये स्वीकार नहीं कर पाता है कि परमात्मा अंदर बैठा है देख रहा है जान रहा है मैं क्या बोल रहा हूं उचित अनुचित जिसको इसका बोध नहीं है वो कुछ भी बोलेगा वो इस कसौटी से नहीं बोलेगा कि मैं ठीक बोल रहा हूं उसको जो मन में आएगा वो बोलेगा जो ठीक लगता है वो बोलेगा तो इस तरह जो बोलते हैं वो बस ऐसे ही बकवाद करते हैं वो समझते हैं हम बहुत वैज्ञानिक बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं और ठीक बोल रहे हैं लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा को अपने अंदर स्वीकार नहीं करता है एक दृष्टा के रूप में स्वीकार नहीं करता है और परमात्मा की कसौटी पे कस के नहीं बोलता है उसके बोलने में त्रुटियां होंगी अविद्या आएगी गलत बातें आएंगी और वो बकवाद मिथ्या के समान ही प्रतीत होंगी ठीक ढंग से वही बोल सकता है जो परमात्मा को अंदर स्वीकार करता है अपने से भिन्न स्वीकार करता है जिस व्यक्ति ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं ही ब्रह्म हूं मेरे से भिन्न ब्रह्म नहीं है तो उसको किसी की कसौटी की आवश्यकता नहीं है वो तो स्वयं अपने को ब्रह्म मान रहा है और ऐसी स्थिति में वो जो विचार करता है उसको यही समझता है कि ब्रह्म ही विचार कर रहा है वो जो बोलता है वो सोचता है मैं ब्रह्म ही बोल रहा हूं तो ब्रह्म तो ना गलत विचार कर सकता है ना गलत बोल सकता है इसलिए वो जो भी बोलता है जो भी विचार करता है उसे ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं ऐसा व्यक्ति बकवाद करेगा क्योंकि वो ब्रह्म है नहीं ब्रह्म उसने अपने को समझ लिया है सर्वज्ञ समझ लिया है और अपने से भिन्न परमात्मा की कसौटी को लेकर के चल नहीं रहा है तो वो गलत ही बोलेगा मिथ्या ही बोलेगा उसकी बातों में बहुत गलत बातें आएंगी सिद्धांत विरुद्ध बातें आएंगी तो जो परमात्मा को प्रथम पंक्ति में कहे रूप में नहीं स्वीकार करता है वो निहारेण प्रावृता है अज्ञान से ढका हुआ है और जल प्या कुछ भी बोलता है बकवास करता है मिथ्या बातें बोलता है ऐसी बातें जो अन्यों के लिए भी हानिकारक होती हैं बिना समझे बोलता है और उन लोगों की क्या स्थिति बनती है तो च आसु त्रिपा वो प्राणों के पोषण में ही त्रिप, तृप्त होता है अपने इंद्रियों के अपने शारीरिक सुखों के और अपना जीवन चलाने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं बस उनको प्राप्त करके उनका सेवन करके तृप्त रहता है जीवन के लिए वायु चाहिए तो शुद्ध वायु को पा करके वो तृप्त रहता है जल चाहिए तो शुद्ध जल को पा करके तृप्त है जितना ठंडा गर्म जल चाहिए उसको प्राप्त करके तृप्त है भोजन चाहिए तो विविध भोजनों को उपस्थित करके वो तृप्त है अन्य जो भी वस्त्र आदि भवन आदि चाहिए वो सब इस शरीर के लिए जीवन के लिए जितने आवश्यक हैं जो जो आवश्यक हैं उससे आगे उसका सोच नहीं जाएगा जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करते जो नास्तिक वर्ग है उनकी सारी गतिविधियां देख लीजिए उनके सारे अनुसंधान देख लीजिए उनके सारे संसाधन देख लीजिए वो केवल प्राणों के पोषण में जीवन को चलाने के लिए जो आवश्यक है उसी पर केंद्रित है वो परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप है या नहीं है ये विचार ही नहीं करते क्योंकि ईश्वर को ही वो नहीं स्वीकार करते उचित और अनुचित की उनकी कसौटी केवल प्राणों की तृप्ति जीवन चलाने के लिए जो आवश्यक है बस वहीं तक है जिससे जीवन ठीक चलेगा वो ठीक है और जो जीवन के लिए हितकर नहीं है वो अहितकर है वो त्याज्य है उनकी कसौटी केवल जीवन का चलना है अब उस जीवन चलने के लिए वो मांसाहार करते हैं तो करेंगे उन्हें यही दिखाई देता है कि इससे जीवन चल रहा है इसी प्रकार से संसार के विविध सुखों को किसी भी ढंग से भोगने में वो अपने जीवन की संतुष्टि मानते हैं तो वैसा ही करते रहेंगे तो जो परमात्मा को नहीं जानता है किसी भी स्तर पे वो प्राण पोषण में ही तत्पर रहेगा उसके आगे सोच ही नहीं सकता वो जो परमात्मा को सृष्टि रचयिता मानते हैं लेकिन परमात्मा को अपने अंदर नहीं स्वीकार करते वे भी प्राण पोषण में ही तत्पर रहेंगे वो परमात्मा की बात करेंगे उक्त शासश्चरंती वो बहुत प्रशंसनीय वचनों को बोलेंगे वचनों को बोलेंगे परमात्मा के बारे में परमात्मा ने सृष्टि बनाई देखो कितनी सुंदर बनाई है देखो कितनी भोग सामग्रियां हैं कितने विविध खाद्य पदार्थ हैं वो परमात्मा की प्रशंसा करेगा प्रशंसनीय वचनों को बोलेगा लेकिन प्राण पोषण तक ही सीमित रहेगा ये वास्तविक आस्तिकता नहीं है ये भी अविद्या से ग्रस्त है लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग समाज में विद्यमान है जो परमात्मा को मात्र इतना मान करके कि उसी ने ये बनाया है और भाव विभोर होता रहता है कि उसी ने बनाया है देखो कितने विविध पदार्थ दिए हैं लेकिन भोग ऐसे करेगा जो बस केवल जीवन के लिए आवश्यक हो वो परमात्मा के नियम के अनुसार वेदों के अनुसार जीवन चलाना खाना पीना नहीं निर्धारित करता है वो परमात्मा की प्रशंसा करेगा खूब लेकिन जीवन उसका कैसा चलेगा केवल प्राण पोषण में ही तत्पर दिखाई देगा और जो अपने से भिन्न ब्रह्म को नहीं मानते वो भी प्राण पोषण में ही तत्पर रहेंगे क्योंकि वो मानेंगे मैं ब्रह्म हूं मैंने ही इस सबको बनाया है इन सब के भोग भोग के लिए बनाया है और वहीं पर ही वो सीमित रहेंगे और जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं अपने से भिन्न भी मानते हैं स्वीकार कर चुके हैं लेकिन विभिन्न कार्यों को करते हुए अंदर उपस्थित नहीं रख पाते हैं ज्ञान उनका उद्बुद्ध नहीं रहता है उनके भी कर्म प्राण पोषण के लिए ही होते रहेंगे प्राण का पोषण करने के लिए परमात्मा ने ये चीज़ें बनाई हैं लेकिन उसी से तृप्त हो जाना चासु तृपा प्राण पोषण करने से तृप्त हो जाना कि बस और कुछ नहीं करना है ये पर्याप्त है मेरे जीवन के लिए मेरे जीवन की कृतकृत्यता इसी में है ये मनुष्य शरीर की कृतकृत्यता इसी में है कि जीवन चले सुखपूर्वक चले वो तृप्त हो जाते हैं यहां पर ये सब निहारेण प्रावृता अंधकार से ग्रस्त हैं धुंध में है आधा अधूरा देख रहे हैं अल्प देख रहे हैं स्पष्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो जो परमात्मा को इस तरह स्वीकार नहीं करता है वो निहारेण प्रावृता जलप्या चासु त्रिपा उक्त शासस और चरंती अपने मनमर्जी से चलते हैं वो वेद विरुद्ध ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं इसको दो ढंग से देख सकते हैं जो परमात्मा को सर्वव्यापक अपने अंदर और अपने से भिन्न स्वीकार नहीं करता है वो ऐसा बनेगा उसके जीवन में ये सब चीजें दिखाई देंगी जो दूसरी पंक्ति में दूसरे ढंग से जो दूसरी पंक्ति के अनुसार चल रहा है उसका जीवन ऐसा है इस स्थिति में जी रहा है वो परमात्मा को नहीं जानता है वो परमात्मा को नहीं जान सकता है तो महर्षि ने इसमें कई बातें लिखी हैं इनका व्याख्या करते हुए कि जो तुम ये जल पे करते हो आवृत हो मिथ्यावाद नास्तिकत्व बकवाद करते हो इससे दुख ही तुमको मिलेगा सुख नहीं मिलेगा महर्षि उस बड़े सुख की बात कर रहे हैं पूर्ण सुख की बात कर रहे हैं दुख रहित सुख की बात कर रहे हैं और संसार के मनुष्य ईश्वर को न मानते हुए या गलत ढंग से मानते हुए जो चल रहे हैं वो दुख भी पाते हैं सांसारिक इंद्रियों के सुख तो पाते हैं प्राणों का तर्पण तो कर लेते हैं लेकिन फिर भी दुखों से ग्रस्त रहते हैं और महर्षि ने इस मंत्र को एक प्रमाण के रूप में भी लिखा कि इससे स्पष्ट होता है कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं वेद मंत्र स्वयं कहता है जो दोनों को एक मानता है वो तो निहारे न प्रावृत है अंधकार से ग्रस्त है उसको नहीं पता है कि दोनों अलग हैं और वो भी दुख से निवृत्त नहीं हो सकता अविद्या से ग्रस्त रहेगा और वेद मंत्र जब ये कह रहा है अन्यत युष्माकम अंतरम बभुव तुम्हारे अंदर भी है एक व्यापक प्रश्न रहता है कि एक स्थान पर दूसरी वस्तु कैसे रह सकती है एक जगह तो एक ही रह सकता है तो वेद भाष्य में महर्षि ने परमात्मा को इसी मंत्र में अति सूक्ष्म भी कहा है आप अति सूक्ष्म हो इस बात का उत्तर है कि कैसे अन्य जगह पर अन्य वस्तुओं में भी वो परमात्मा रह लेता है वो अति सूक्ष्म है सबसे सूक्ष्म है उसकी सूक्ष्मता के कारण ही वो अंदर रह सकता है अर्थात परमात्मा की अपेक्षा अन्य वस्तुएं स्थूल हैं और उन स्थूल वस्तुओं में सूक्ष्म वस्तु प्रविष्ट कर सकती है इसलिए परमात्मा वहां रह सकता है और महर्षि ने नीचे जो संबंध बनाए कि व्याप्य व्यापक संबंध है हमारे में परमात्मा व्यापक है और हम व्याप्य हैं ये तब हो सकता है जब परमात्मा अति सूक्ष्म हो सर्वाधिक सूक्ष्म हो आधार आधे का संबंध है वो हमारा आधार है आश्रय है हम उस पर आश्रित हैं सेव्य सेवक संबंध है लेकिन दोनों हैं अलग इस मंत्र का देवता विश्वकर्मा है जिसने इस समस्त जगत को रचा है वो संकेत सीधे मंत्र से मिल रहे हैं हम ईश्वर को ये समझें कि उसने बनाया है इसको और वो हमारे अंदर भी विद्यमान है हमसे भिन्न होकर के सदा हमें देख रहा है और जो इस मंत्र का साक्षात करने वाला है ऋषि वो क्या बना है वो कौन है भुवन पुत्रो विश्वकर्मा वो स्वयं विश्वकर्मा बनता है जैसे परमात्मा बहुत सी चीजों का निर्माण करता है हितकारी रूप में ऐसे वो बहुत सी चीजों का निर्माण करता है हित करता है लोगों का ठीक ढंग से हित करता है और इन सब भुवनों का जो धारण करने वाले हैं उनका ये रक्षक बनता है जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करके केवल प्राणों के पोषण में तत्पर हैं वो इस सृष्टि का विनाश करेंगे उसकी हानि करेंगे बहुत अधिक हानि करेंगे और जो परमात्मा को मान करके इस संसार का भोग कर रहे हैं वो जहां जहां उन्हें हानि दिखेगी उससे बचेंगे प्रयास करेंगे प्रकृति का नाश नहीं करेंगे उपयोग उसकी रक्षा करते हुए करेंगे तो आर्यों को परमात्मा का क्या स्वरूप मन में रखना चाहिए उसके लिए महर्षि ने इस मंत्र को दिया और हमारे लिए विचार की बात है कि क्या हम परमात्मा को अपने अंदर सदा विद्यमान अनुभव कर पाते हैं भिन्न तो हम मानते ही हैं लेकिन अंदर सदा विद्यमान हम मान पाए कि सदा चलता रहे हमारे मन में जितना भी हमारा जागने का समय है उस समय हम परमात्मा को अपने अंदर स्वीकार करते हुए चलें तो हम ये अगली पंक्ति में कहे गए दोषों से ऊपर उठ करके उस सुख को प्राप्त कर सकते हैं जिस सुख को परमात्मा हमें देना चाहते हैं मंत्र की भावना को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण ओ